नारदा दिशन कारि मुनीषा दर्शन लागि कोशला दिशा दिनप्रति सकल अयोध्यायामहि देखि नगर विराग विशरावहि जातरूपमनिरचितयटारी नाना रंग रुचिर गज ढारे पुरचहु पास कोटियति सुंदर रचे कंगूरा रंग रंग बर नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फसें हैं नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं नवग्रह निकर अनेक बनाए जनु घेरी अमरावती आई महि रचित गज जो मुनि काचालोकिमुनि वरमन नाचा दुति निन्दत बहुमनि रचित झरोखा भ्राजहि गृह पति मन दीप विराज मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों रत्नों की गच बनाई ढाली गई है जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं उज्जवल महल ऊपर आकाश को चूम छू रहे हैं महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा तिरस्कार करते हैं महलों में बहुत सी मड़ियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मड़ियों के दीपक शोभा पा रहे हैं मन दीप राज भवन दे हरे बेद्रुम रचे मन खम्भ भीति विरंचि विरचि मणि मरकत खची सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचि फटिकार चे प्रति द्वार द्वार कपाट पूरट बनाए बहुभ्रद्रणिखचे घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं मूंगों की बनी हुई देहलियाँ चमक रही हैं मड़ियों रत्नों के खंभे हैं मरकत मड़ियों पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर है मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो महल सुंदर मनोहर और विशाल हैं उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं साला गृह गृह प्रतिलिखे बनाय रामचरित जय निरख मुनि ते मन ले चुराए घर घर में सुंदर चित्रशालाएँ हैं जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए गए हैं जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं सुमन बाटिका सब ही लगाए विविध भाति कर जतन बनाए लता ललित बहु जात सुहाए फूल ही सदा बसंत किनाए कुंजत मधुकर मुखर मनोहर मारुत त्रिविधि सदा बह सुंदर नाना खग बालक निज आये बोलत मधुर उड़ात सुहाए सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा बसंत की तरह फूलती रहती हैं भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बढ़ती रहती है बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं मोर हंस मोर हंस सारस परावत भवनि पर पावत जह तह देखहि निज पर बहु विधि कूजहे नित्य कराहि सुख सारिका पढ़ावहि बालक कहु राम रघुपति जन पालक राज सकल विधि चारो देत चौहट रुचिर बाजारो मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं वे पक्षी मणियों की दीवारों में और छत में जहाँ तहाँ अपनी परछाई देखकर वहाँ दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जनपालक राजद्वार सब प्रकार से सुंदर हैं गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं बाजार रुचिन बरई बरनत वस्तु दिनुगत पाइए जहाँ भूप रमा निवास तह के संपदा की निगाइए बैठे बजाज शराप बनिक अनेक मनहु ते तब सुखे सब सचरित सुंदर नारी नर से सुजर ठजे सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती है जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले शराफ रुपये पैसे का लेन देन करने वाले आदि बड़े व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं उत्तर दिश सरजू बह निर्मल जल गंभीर बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहीं तीर नगर की उत्तर दिशा में सरजू जी बह रही हैं जिनका जल निर्मल और गहरा है मनोहर घाट बंधे हुए हैं किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है